बन दे सहित सहितवे प्रतीय जे सङ्गया गङ्गगौरि सम सबसनमाणि देहि स मुदित मृदुबानी गहि पद लगे सुमित्राय का जनुी सम् पतिरं का दहीपदल पुन जननी भाता परे प्रेम व्या सब गाता फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं अति अनुराग अम्बूर लाए नयन सने सलिलयन हवाए तही अवसर कर परस विषादो किमि कवि कह मुख जिम स्वारो नीलजन निज रघुरावो गुरुसन कहे के धारिय पाओ पुरजन जाए पुरजन पाए मुनीष नियोग जल थल तके तके उतरे उलोग बड़े स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बाह हुए नेत्रों से बहे हुए प्रेमाशुओं के जल से उन्हें नहला दिया उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए महेश्वर मंत्री मात गुरु गणे लोग लिए साथ पावन आश्रम गवन किया भरत लखन रघुनाथ ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को सांस लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी की पवित्र आश्रम को चले सिय आई मुनि बर पगलागि उचित लि मनमाागी गुरुपत्निहि मुनि तियन समेता प्रेम कही न जेता बन्दि बन्दि पग शियस बहि के बचन लहे प्रिय सासु सकल जब निहारे, मुदे नयन सहमि सुकुमारी, सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूलन लगाने वाले आशीर्वाद पाए जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली परी बस मन हो मरारे काह के न का कर तार कुचारे तिन सियने रखे निपत दुख पावा सो सब सही जो सहावा जनक सुता तरि धीरा नीलनलीनलो जन सकल नील सुन सुनसे अजाये तहि अवसर करोहि सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियाँ बधिक के वश में पड़ गई हों मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया सोचा जो कुछ दैव सहावे सब सह सब वह सब सहना ही पड़ता है तब जन जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गई लागी लागी पग सबन से भेटत यति अनुराग हृदय सही प्रेम बस रही हहु भरी सुहाग सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो